और जब उन्हें अपने रब की आयत के जरिए नसीहत की जाती है तो वो उन पर बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरते